मैं यहां अकेली डर रही हूं और डर रही है चल हमारे साथ चलो हमारी पत्नी बन जाए उसका ब्याह हुआ बारह लड़के आठ कन्या इनको उत्पन्न फिर किसी राजा ने आक्रमण किया उसके ऊपर और सारा राज्य उसने अपने काबू में कर लिया लड़के उसके मारे गए लड़कियों का विवाह हो गया अब दो ही रह गए स्त्री और पुरुष और वो जो है अपना जीवन बचा करके जंगल में चले जाए तो कहते घूमते घामते वहीं आ गए जाओ तालाब अब उस स्त्री ने फिर उसमें गोता लगाया जो नारद जी थे तो अब स्त्री का वेश खत्म फिर नारद जी के नारद जी अब उनकी सारी बात याद आती है अरे ये तो मैंने इतने दिन इसका स्त्री बन के रहा मेरे इतने पुत्र हुए जैसे स्वप्न का सारी बात उनको याद आती है स्वप्न में जागृत को भूल जाते हैं पर जागृत में स्वप्न स्मरण था अब नारद जी उसी में गोता लगा गए सन को उससे निकलते नहीं बाहर और राजा रोने लगा कि मेरी एक स्त्री साथ में रह गई थी जो भी इसमें डूब गई अब वो रो गए भगवान ब्राह्मण का वेश बना के आए अरे तू क्यों रो रहा है तो महाराज और मेरा सदाज पाठ तो सब ही गया एक स्त्री रह गई थी मेरे साथ वो भी इसमें डूब गई अरे ये तुझे मिली कहाँ थी बोले मिली तो यही थी अरे जहां से आई वहां गई अब तू भगवान ने तुझे भजन करने का अवसर दिया है भगवान का स्मरण कर जाए फिर भगवान ने उनको बोला ओ निकल आओ नारद जी देखी माया तुमने ये माया ये सारी चमत्कार जिससे दिखाते हैं भगवान यही माया है हे जनक ऐसा सर्गस्थित्यंत कारिणी त्रिगुणा भगवतमय भगवती माया वर्णता ये माया का हमने तुमने वर्णन किया भूया क्यों सुनने अब क्या सुनना चाहते हो बोलो जनक बोले हे महर्षि स्थूल दिया एकाम दूसरा माया में सुखी न तरल इस माया को सरलता से पार कर लिया जाए ऐसा साधन बताओ तो उनको उस प्रबुद्ध नाम के योगेश्वर बोले कि देखो भाई इस माया के तरने का उपाय हम बताते हैं कर्माण्यमाणा नाम दुख हत्य सुखावे थे पहले विचार करो संसार के प्राणी ये कर्म करते हैं व्यापार करते हैं किस लिए दुख की निवृत्ति के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए और इनको देखो ये होता है नहीं कभी दुख की निवृत्ति नहीं हो पाती और सुख इन्हें मिल नहीं पाती तो कर्म विपर्यास देखो सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और तो इन्हें दुख मिलता है ऐसा विचार करने से व्यक्ति को वैराग्य होता है कि सब लोग करते तो सुख के लिए प्रयत्न है पर इनको सुख मिलता नहीं और दुख मिलता है उल्टा नित्यावृतेन वित्तेन धन को कमाना कठिन उसकी रक्षा करना कठिन और अपनी मृत्यु का कारण बन जाता है धन किसी किसी के लिए तो तो इनसे ये क्या हमारा हित करेंगे एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम यहां संसार की वस्तु जैसे प्राणी को सुख शांति नहीं दे सकती ऐसे ही स्वर्ग को भी समझो स्वर्ग में भी जीव को सुख और शांति नहीं मिल सकती क्यों वो भी नश्वर है एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम तद्यथा ये कर्म से तो लोक क्षीयते एवमेवा मूत्र पुण्य से तो लोक क्षीयते वो भी पुण्य से मिला है स्वर्गाधिक वो भी तो नष्ट हो जाए एक महात्मा कहा करते थे कि जब कोई स्वर्ग में जाता है तो वहां लोग उसको एक माला पहना देते और कहते हैं महाशाह जी देखो ये दिव्य मकान दिव्य महल दिव्य भोग आप इसमें रहिए आपको इच्छित भोग मिलेंगे और ये माला के पुष्प जिस दिन कुमिलाने लगेंगे समझ लेना कि तो हमारे भोग समाप्त हो गए उसी दिन चलना पड़ेगा हाँ, कहने की आवश्यकता नहीं होगी मेरा सब बेटा हो साहब चलो खाली करो तुम अपने आप समझ लेना का हमारा समय और उसको एक माला पहना दी जाती है और माला को दिन भर में तीन बार देखता है कि कुमिलाई तो नहीं हर समय डर बना रहता है कि न मालूम यहां से कब गिरना पड़ा कब निकाल कब निकाले जाए तो क्या सुख है फिर वहां कहते हैं सुख नर्क और स्वर्ग ऐसी जगह भगवान ने बनाए हैं कि नर्क के प्राणी उनको देख लें और स्वर्ग के उनको देख लें कैसे तो बोल रहे तो नर्क वाली जो है ना नरक में जो जीव रह रहे हैं उन पर उनका तो दिन पर दिन सुख बढ़ता जाता है वो ये नहीं मना कर रहे मना कर रहे हैं उसको मत बेमा हो कथा और विघ्न करके उसे अपने काम से काम तुम्हारी उसका कुछ उसकी चीज से मिल जाए चलो तो पता अपनी तुम जरूर तो नरक में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उनका तो दिन पर दिन सुख बढ़ता जाता है दुख कमती हो जाता है भाई इतने दिन हमको दुख भोगते हुए अब हम यहां से छूटे तो उनका तो दिन में दिन सुख बढ़ता जाता है और स्वर्ग में रहने वाले का दुख बढ़ता जाता है कि भाई इतने दिन हो गए अब अब जो यहां से निकाले जाए निकाले जाए एवं लोकम परम विद्या स्वर्ग लोक भी क्या कोई सुख शांति की जगह थोड़ी ये पांच वर्ष के लिए एमपी बढ़ जाते हैं वो साल गिनते रहते रहे दो वर्ष भाई तीन वर्ष भाई अब भाई हम फिर झगड़ा पाया तो या से तो जेल में रहते हैं वो खुशी है कि अभी ये दो वर्ष की जेल रही है साल तो हो गई अब छूटेंगे <laughs> उनसे जेल में रहने वाली अच्छे दिन पे दिन उनका सुख बढ़ता है और इनके सामने आपत्ति आती जाती है कि भाई चार वर्ष में पांच वर्ष भय अब आप बताइए सामने फिर जाओ फिर झगड़ो एवं लोकम परम विद्या नश्वरम कर्म निर्मितम इसलिए ये सब बात देख करके प्रबुद्ध कहते हैं तस्मात गुरु प्रबद्वे तो जिज्ञासु श्रेय उत्तम इसलिए उत्तम गुरु की शरण में जाओ शाब्दे परे निष्णात जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में दोनों में निष्णात हो शांत हो उनसे भगवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करो हमारे अनुवृत्या निष्कपट भाव से उसकी सेवा करो ये स्तुषेत आत्म आत्म हरी ही क्या सीखो सबसे पहले मनसो असंगम मन को संसार के पदार्थों से कैसे हम असंग करें कैसे अलग करें और संगम से साधुसु साधुओं में प्रीति करो छोटों पर दया करो बराबर वालों से मैत्री करो क्रम से ये बातें सब सीखो शौचम पवित्र रहना सीखो तप प्रतीक्षा प्रतीक्षा करो मौन रहो स्वाध्याय करो सरलता जीवन में सरलता को अनुभव ब्रह्मचर्य अहिंसा उनका पालन करो सर्वत्र परमात्मा को देखना सीखो अनिजेतताम विविक्त चीरवसुरम संतोषम ये न जो कुछ मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखो भगवान का मंगलमय कथाओं का श्रवण करना जीवा से कीर्तन करना मन से ध्यान करना ये सब पाप गुरु जी के पास जाकर के सीखो एवं कृष्ण कृष्णापनाथेशु मनुष्य सख्यम स्थावर जंग में पूजा शिक्षे इस प्रकार से क्वचित हरचिंतया रुदन क्वचित हसन क्वचित नृत्यन एवं परम भाव प्राप्त तूषणिम भवन की तो ऐसे कहते हैं इस इन गुरु के द्वारा इन भागवत धर्मों की शिक्षा प्राप्त करके जब भागवत धर्म पारायण होता है तब पुरुष भगवान की माया के पार हो जाता है बोलिए श्री कृष्ण राजा ने मुनि ने ये बात पूछी है भगवान जिसको नारायण कहते हैं ब्रह्म कहते हैं परमात्मा कहते हैं ये एक ही बात है ये कोई अलग अलग वस्तु है तो उसके लिए भी तो प्रपलाव नाम के योगेश्वर जी अरे नाम तो एक ही के ही अलग अलग है एक ही तत्व ये स्थित उद्भव प्रलय हेतु अहेतु इस संसार को जो उत्पन्न करता है पालन करता है अपने में लीन करता कर लेता है इसलिए उसको कहते हैं नारायण यद स्वप्न जागर सुसुप्ति तो सद और वरिष्ठ जागृत स्वप्न सुसुप्ति और इनसे पृथक समाधि में भी इन चारों अवस्थाओं को भी प्रकाशित करता रहता है उसको कहते हैं ब्रह्म और देव इंद्री आदि जिसकी चेतनता से चेतन हो रहे हैं उसको कहते हैं आत्मा है एक ही तत्व इसलिए उनके एक ही चीज के तीन नाम हो गए हैं स्थितुदभव हेतु यत्स्वप्न जागर सुसुप्तिषु तद्बहिष्ठे देहिंद्रिया हृदया चरन्ति संजीविता तदवे परम नरेन्द्रो तद अवे ही उसको तुम परमात्मा ब्रह्म को समझो कहते अवे ही क्या ज्ञान का विषय है वो तो न नई तन्मनो विशदिवागत चक्षुरात्मा मन की पहुंच वहां नहीं है वाणी की पहुंच वहां नहीं है इंद्रिया नहीं देख सकती यथा नलमर्च सस्व जैसे अग्नि को अग्नि की चिंगारी जला नहीं सकती शब्द भी बोलो शब्द तो शब्द से वो जाना जा सकता है कि नहीं शब्दों की बोधक निषेधतया शब्द भी बोधक है वो भी नेति नेति करके बताता है अर्थात उत्तमा इसलिए संकेत से बताता है शब्द भी साक्षात प्रतिपादन नहीं कर सकता यद ऋतेन निषेध सिद्धि क्यों वो नेति नेति किसको लेकर के कह रहा है कोई चीज न हो तो नाना क्यों करेगा अरे ये ब्रह्म है ना ये ब्रह्म है ना ये ब्रह्म है ये निषेध की जो अवधि है वो पर ब्रह्म तो एक बार जैसे कुंभ होता है अगले साल यहां भी होने वाला है कहते हैं एक व्यक्ति का जब विवाह हुआ था वो ऐसे मेला में बड़े भारी मेला में चला गया उसकी स्त्री उससे अलग हो गई तो अब उसने कहा मैं अपने पति को कहा ढूंढूं इतने बड़े भारी मेला में उसने पुलिस को सूचना दी कि मेरा पति मेरे से अलग हो गया है पुरुष ने उसको जहां से सारा मेला निकलता था वहां दरवाजे पर खड़ा कर दिया अरे जो जाएगा यहां होकर जाएगा तू पहचानती है अब जो व्यक्ति आ गए अरे ये तेरा पति है ना ये है कि ना निषेध करती है लेती लेती लेती सबको नाना करती है जब उसका पति आया तो ना करना छोड़ दिया फिर ना नहीं किया चुप पुलिस समझ गई यही इसका पति है यही यही तक यही तक नेति नेति थी निषेध का अवधि ये है इसी को लेकर के औरों को ना कर रही थी उन्होंने पहचान लिया ऐसे श्रुति जो नीति नीति कहती है ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं तो किसी को दृष्टि में रखकर कहती है ना तो वो निषेध की जो अवधि है वही परमात्मा नात्मा जजान नहीं नैवते सऊ ये आत्मा न कभी पैदा होता है न मरता है न बढ़ता है न घटता है ये जो का क्यों शिला की तनो समान व्योम का एक सबका साक्षी है सर्वत्र शस्व धन अनुपलब्ध प्राणो यतीन्द्रिय बलेन विकल्प संसार यद्यनाथचरणे शरणोर्भक्त्या से तो मलान विधमे जब भगवान की भक्ति से मन निर्मल हो जाता है उसमें यह आत्मा का साक्षात्कार होता है और निमी महाराज प्रश्न करते हैं कर्मयोगम बस महाराज कर्म योग की गाथा करो जिससे मनुष्य अंतकरण शुद्ध होकर के और नई कर्म बिंदु के बना मोक्ष प्राप्त करने का तो कर्म की व्याख्या आप कीजिए पिता से मैं पास पहले संकाधिक महर्षि आए थे हमने उनसे पूछा था तो वो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया आप ही होकर बोले कर्माकर्म विकर्मेति वेद बाबू में कर्म अकर्म विकर्म तीन चीजें शास्त्र से विहित जो है उसको कहते हैं कर्म शास्त्र से जो निषिद्ध है उसको कहते हैं अकर्म विहित को जो न करना है उसका नाम है विकर्म ये बात हम बच्चे से नहीं जान पाते इसलिए उन्होंने नहीं बताया था उसमें ये शास्त्र से ही बात जानी जाती है वो शास्त्र जो है परोक्ष दादो दे दोयम बाला नाम अनुशासन वेद जो है परोक्ष दाद है तो उद्देश्य उसका कुछ है कहता कुछ है क्या समझे वेद तुमको स्वर्गाधिक फल देने की बात कहता है स्वर्ग कामू यदि तो अरे स्वर्ग चाहते हो तो यज्ञ करो तो यज्ञ की बात करता है यज्ञ करो तो स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा पर वेद को तुम्हें स्वर्ग में भेजना इष्ट नहीं है तुम्हें तो भगवान के पास भेजना है तो, तो कर्म कर्माण की दत्ते कर्म से मुक्त करने के लिए कर्म का विधान करता जब तुम वेद कर्म करने लगोगे अंतकर्ण शुद्ध होगा और फिर जब वेदांत का श्रवण करोगे तो तुम कर्मों के वो कर्म से तुम्हारी मिल जाएगी ऐसा सोच करके वो जो ब्राह्मण था उसने अपने शरीर में से ममता हटा करके सन्यासी हो गया वृक्षों को डूबा और पृथ्वी पर घूमने लगा भिक्षा करने के लिए गांव में नगर में जाता था उस अवधूत को उसका लोग अपमान करते थे कोई उसका दंड छीन लेते और उसका प्रमाण देने पचास चालीस की आखिरी धीरे कहा कि चार सफेद किया प्रातः काल की ली भोजन करने के बाद की ली फिर शाम को की ली छोटे समय की ली तो ऐसी चार स्थानों में पीने के लिए विधि कर रहा था कोई दूसरा समय सुना था वो सारे ही पिता बड़ा मिलकर अपने लड़के को सिगरेट पीने के लिए वो तो उसने प्रसंग को तो नहीं समझा तो उसने हल्ला मचा दिया तो ने अपने लड़के को सिगरेट पीने का उपदेश कर ऐसे जो ना समझने हैं वो जहां शास्त्रों में कहीं मानस आदि की विधि आती है ऐसे कहते हैं अगर तुम्हें नहीं बिना खाए नहीं रह जाता तो भाई भगवान को देवताओं को निवेदन करके यज्ञ करके जल खाओ और उसका प्रसंग नहीं जान तो कहते हैं शास्त्र कह रहा है भगवान शराब पीने की तो निवारण उसकी निवृत्ति नहीं जानते शास्त्र का निवृत्त करने का है उसका पिता तो चाहता था कि सिगरेट न पिए पर एक साथ नहीं छोड़ता था धीरे धीरे छोड़ता ये तीनों शुद्धम धर्म में का अभियान पशु विनती थे पशु और जनक ने कहा महाराज किस काल में भगवान किस रूप से पूजे जाते हैं उसके लिए कर भाजन करते तो सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण के होते हैं शुक्लाम धर्म देवम शशिवर्ण चतुर्भुजम सतयुग में भगवान का श्वेत वर्ण होता है चार भुजा होती है और ऐसे रेशमी रेशमी वस्त्र नहीं पहनते बलकर आम्बर धर बलकर वस्त्र पहने मृगचरण तो यज्ञोपवीत पहने हुए होंगे दंड कमंडल हाथ में होगा सतयुग में भगवान का ऐसा स्वरूप होता है उस समय लोग शांत होते हैं निर्भय होते हैं हम्म। समदम से युक्त होते हैं भगवान के नाम क्या होते हैं उस समय हंस सुपर्ण वैकुंठ योगेश्वर ये भगवान के नाम होते हैं त्रेता युग में रक्त वर्ण के भगवान होते हैं लाल लाल उनका स्वरूप हम्म। और सुख शुरुआत यज्ञ में हवन करने के लिए चिन्ह है श्लोक शुरुआत में हाथ में होते <coughs> उस समय ब्राह्मण ब्रह्म बाजना वेदवासी लोग ज्यादा होते वेद वेद हो जाने वाले होते हैं वेद कहीं से भगवान की पूजा की जाती है विष्णु यज्ञ क्रम जयंत ये भगवान के नामों का कीर्तन किया जाता है द्वापर में भगवान का श्याम वर्ण होता है पीले वस्त्र धारण करते हैं चक्रधारी श्रीवर सागर सिंह उनके होते हैं द्वापर में भगवान का श्याम वर्ण हुए जय श्री कृष्ण है सुदर्शन चक्का कदा मुजा परमेश्वरम ज्ञातोत्सव वेद तंत्राभियान के लिए वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न आदित नारायण ये उनके नाम है और कलियुग में इंद्र नीलमणि के समान समुज्वल उनका स्वरूप होगा जब आगे भगवान प्रकट होंगे उनकी उस समय जिन ऐसी पूजा होगी इन नामों से ध्येयम सदा भी प्रदोहम तीर्थास्पदम शिव विधि चयुत शरण्यम भृत्याहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते शरणारविंदम त्यक्वा सुदुस्ते सुरे सुतराज्यलक्ष्मी निष्ठार्युवतसा युगदादरण्यम् मायामृगम् जयते वंदे महापुरुष महापुरुषते चरणारविन्दम् किस तरह से लोग भगवान की उपासना करते हैं उस समय कलयुग जो गुणज्ञ है वो श्रेष्ठ पुरुष चारों युगों में कलयुग को अच्छा मानते हैं क्यों का हर कीर्तने कीर्तने नहीं वह सर्वा स्वास्थ्य थे भगवान नाम कीर्तन से भगवान का नाम लेने से ही भगवान नाम जप करने से ही सब काम सिद्ध हो जाते हैं ये जनक क्वचित क्वचित द्रगणेशु गौषा तत्रापि यत्र ताम्रकर्णी कृतमाला पयस्विनी कावेरी प्रतीची ये नदियां हैं उनका जल पान किया जाए तो लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है जो भगवान का भक्त नहीं कहते हैं ब्राह्मण छत्री वंश उत्पन्न होते ही तीन ऋण होते हैं देवताओं के पुत्रों के ऋषियों के पर जो भगवान का आनंद भक्त होता है वो किसी का ऋणी नहीं होता भगवान उसके ऋणों को चुका देते हैं जिसका ऋण बोला हम देंगे तुम्हारा ऐसा भजन करने हाँ। उस अपने भक्त का ऋण अपने आप ले लेते हैं कि लोग जिसका हो हम देंगे तुम्हारा ऋण बोलिया बात ये से ढूंढता इंद्रनाम पितृणाम किम करो नायम ऋणी चरा सर्वात्मनाय शरण शरणी गतो मुकुंदम पर व्यक्त करता सब कर्तव्य का पालन छोड़ के जो भगवान की शरण जाता है वो किसी का ऋणी नहीं रहता इस प्रकार मुसलेश्वर जन को भगवत धर्मों को सुन करके उन नव योगेश्वरों से और महाराज उनकी पूजा की और जनक से पूजा अपनी लेकर के वो सिद्ध लोग भाई भाई अंतर्धान हो गए बोलिए श्री कृष्ण नारद जी कहते हैं कि देखो एक दिन हे वसुदेव जी तुम भी इसी तरह कौन भगवत धर्मों का आचरण करके परम परम को परम पद को प्राप्त हो गए ये तो युवाम पुत्रता मरी प्राप्त अतो युवयो यशा जगत पूर्ण अब तुम श्री कृष्ण को अपना पुत्र मत मान ये साक्षात परमात्मा बसदेव जी ने जब ये बात सुनी तो फिर देव की और बसदेव दोनों ने पुत्र बुद्धि मां पुत्र बुद्धि उन्होंने छोड़ी होकर बस देवो देवी की जो श्रद्धा उसमें तो मोहन कहते तो उन्होंने अपना मोह छोड़ दिया और इसके अंतर सनकादिक ऋषियों को और सबको लेकर के ब्रह्मा जी भगवान के पास आए द्वारा में दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए और सब देवताओं मिलकर के भगवान की स्तुति करने लगे नकाश स्मते देव पदारविन्दम् बुद्धिन्द्रियप्राण्मनोवचोभिः यच्छिन्त्यते परहृद्भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः तो देवताओं में स्थिति ही भगवान देवी श्रेष्ठ चरणों बलबंदने त्रिविक्रमों युता उच्चता जब बलि के बांध के समय जब आप तीनों लोगों को नाप रहे थे उस समय ये विजय ध्वज के समान मार्ग हो रहा था आपका चरण गंगा जो है उस समय पता के थे समान उनकी शोभा हो रही थी अंतिम ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान आप पृथ्वी का भार दूर करने के लिए आपका यह अवतार हुआ है तो पृथ्वी का भार दूर हो चुका आपने धर्म की स्थापना की आपके आपने अपनी आयुष का विस्तार किया यदो वंशे अवतीय जगतो हितार्थम विक्रमाणि कर्माणि भगवान कृतमा हे कृष्ण यजकुले अवतीर्ण से अब कुल में अवतीर्ण हुए आपको एक से पच्चीस वर्ष हो गए अब आप सवा सौ वर्ष के हैं और देवताओं का कार्य जितना करना था उस कर चुके अब शेष कुछ नहीं है आपने अपने कुल को भी ब्राह्मणों का साफ से नष्ट प्राय कर दिया अभी भी नष्ट ही हो गए अब अब आज यदि आपका विचार हो तो अब आप अपनी वेतन को चलिए भगवान बोले ठीक ब्रह्मा जी जो आपने कहा तो हमने ठीक सुन लिया शायद कार्य सब हो ही चुका है पृथ्वी का भाग दूर हो ही गया ये यादवों का कुल बहुत अभिमानी है प्राय ही नष्ट प्राय ही है यदि हम यादव कुल में असंगत निश्चान बिना इसका उपसंहार किए हम जाएंगे तो फिर ये संसार को नष्ट कर देंगे अतः कुल से नाशा आरभ है इसलिए इस कुल का नाश होना आरंभ कर दिया है इसके अंत में हम वैकुंठ को आए पर थोड़ा महाराज जब वैकुंठ को जाओ थोड़े हमारे यहां होकर गिर गिरेगी जमीन में हो गए इधानी नाश याश्चानुभवम ब्रह्मन हो जाए और इसके यदि अवसर मिला तो तुम्हारे यहां रोते हुए भी जाएंगे ऐसा भगवान ने कह करके सब जो देवताओं को प्रणाम करके चले गए और द्वारका में अनेक उत्पाद होने लगे भगवान ने यादवों से कहा रे बड़े उत्पात हो रहे हैं तुमको साथ लगी गया